वेदीय के परिषद चतुर्थ अध्याय दसम खंड का कुछ विचार हुआ जिसमें दसम खंड में चर्चा हुई थी उपकोशल विद्या की तो उपकोशल नाम का ब्रह्मचारी है गुरुकुल में सत्यकाम जावाल के यहां ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है जब अध्ययन समाप्त तो हो गया अन्य ब्रह्मचारियों को उन्होंने समावर्तन संस्कार कर दिया किंतु एक उपकोषण का समावर्तन संस्कार नहीं किया समावर्तन संस्कार के पश्चात गिरफ्तार नहीं जाते थे ये नियम था अध्ययन पूरी हो गई आपकी तो संस्कार होता था समावर्तन वेदारंभ संस्कार अध्ययन शुरू के लिए होता था और समावर्तन संस्कार अध्ययन समाप्ति में होता था जैसे सोलह संस्कार में समावर्तन संस्कार भी है तो उनके नहीं कि वो चले गए विदेश चले गए प्रदेश चले गए तो वो दुख के मारे अपने अग्नियों के पास जाकर के बैठे रहे तो अग्नियों ने मिलकर के विचार किया ये ब्रह्मचारी बहुत परेशान है इसने हमारी बारह साल तक सेवा की है तो इसको हम मिल करके उपदेश करें तो उसमें गर्भपत्य अग्नि अनुहार्य बचर अग्नि आहवनी अग्नि तीन अग्नि कुंड होते थे गृहस्थ के घर में माने प्रतिदिन सायकाल प्रातकाल दो दो आहुति डाली जाती थी दारपत्य में वो गृहस्थाश्रम भी कर सकता है विवाह के पश्चात और जब तक विधुर नहीं होगा तब तक विधुर होने पर भी नहीं कर सकता पति पत्नी दोनों होना चाहिए आहुति तो दो ही डालनी है प्रातकाल तो सायकाल तो किंतु अग्नि बूझनी नहीं है जीवन भर उस अग्नि को बनाए रखना है वो गारपत्य अग्नि दूसरी अग्नि आहवनी अग्नि जो कि नैमित्तिक कार्य के लिए जो अग्नि का चयन होता है ये तो नित्य कर्म है अग्निहोत्र किंतु तो नैमित्तिक कर्म जैसे दर्श याग अन्य भी कोई भी विशेष दिन आ गए तो उसमें हवन करना होता है नैमित्तिक हवन तो उसके लिए उस गारिपत्य अग्नि में हवन नहीं होता हवन ही अग्नि होता है वो और तीसरे अग्नि होते खाना पकाने वाले अन्नवाहार भजन अग्नि तो तीनों अग्निकुंड के पास जाकर बैठे अग्नियों ने कहा ये ब्रह्मचारी तप्त है और इसने हमारी सेवा की है हम मिल करके उपदेश करें ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा प्राणम ब्रह्म कम ब्रह्म खम प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा उपदेश किया प्राण माने कार्य ब्रह्म समष्टि प्राण और कम ब्रह्म खम ब्रह्म माने माने व्यापक सुख रूप ब्रह्म की वो होता व्यापक होता है सुख रूप होता है कम का अर्थ सुख और खम माने व्यापक ऐसा ब्रह्म माने कम विशेषण लगाया हुआ है भूताकाश की व्यावृत्ति के लिए और कम विशेषण लगाया है परिचिन्न सुख की व्यावृत्ति के लिए कम माने सुख होता है खम माने आकाश होता है तो विशेषण दोनों विशेषण है दोनों विशेष है एक दूसरे का विशेषण है ऐसा करके उपदेश किया तो क्या उपदेश किया होगा श्रुति ने हम लोगों के लिए कहा प्राणम चल तद आकाशम चल चूचू ऐसा कहा प्राण के उपदेश किया और उसके आकाश माने उसका आश्रय आकाश आर्द आकाश ये दो के उपदेश किया कहा था यहां तक एक एक अग्नि ये मिल करके अग्नि की माने उपदेश के बारे में चर्चा हुई अब कहना चाहते हैं तीनों अग्नि अपने अपनी अंग उपासना बता दें अपने अपनी उपासना ये तो प्रधान उपासना थी पहले वाली मुख्य उपासना अब इस मुख्य उपासना के लिए अंग उपासना अपने अपनी उपासना बताएंगे तीनों अग्नि अलग अलग करके बताएंगे ये बोल रहा है आगे मंत्र है अतः इनम गार्हपत्युनुशास पृथिव्य विनिरन्नम आदित्य ययेष इदे ययेष आदित्य पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एव अहमस्मि अथ हैनं कारपत्युनुशसास पृथिव्यग्निरन्नम् आदित्य जयेश आदित्य पुरुषो दृश्यते सोहमस्मी सएव अहमस्मी अथ अनंतर माने समष्टि उपासना बताई अंगी उपासना बताई प्रधान उपासना बताई मुख्य उपासना बताई पूर्व तीनों मिलकर की उपासना बताई अब अलग अलग अथवा अनंतर प्रधान उपासना के पश्चात अब गौण उपासना अंग उपासना हाँ, प्रसिद्ध है एनम उपकोशलम इस उपकोशल को उपकोशल को एनम हाँ, इस उपकोशल को गार्हपत्य अनुशास गार्हपत्य अग्नि ने उपदेश किया सास अनुशिष्ट धातु है लिट लकार है अनुशास लिट प्रथम उपदेश किया क्या उपदेश किया कहते हैं मेरे चार अवयव है मैं चार भाग में विभक्त हूं ऐसा बता दिया पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य चार शरीर मेरे शरीर के चार अवयव चार विभाग है पृथ्वी है अग्नि है अन्न है आदित्य है चार है पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति ऐसा कहा और कहा या ऐसा आदित्य पुरुषो दृश्य थे जो आदित्य में जो आदित्य मंडलस्थ के मंडलस्थ पुरुष दिखाई पड़ता है सबके लिए नहीं दिखाई पड़ता है योगियों के द्वारा विशेष ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा दिखाई पड़ता है वो सोहम अस्मि वही मैं कार्यपत्य अग्नि हूं वो जो आदित्य मंडल में जो पुरुष दिखाई देता है वही मैं कार्यपत्य अग्नि हूं ऐसा कहा और स एव अहम अस्मि और जो मैं गार्भपत्य अग्नि हूं वो वो मैं ही हूं मैं वह हूं वह मैं ही हूं ऐसे दोनों कहा माने एक तरफ से तो हो जाता है घट मिट्टी ही है कहा जाता है किंतु मिट्टी ही घटी है नहीं कहा जाता दोनों के तादाद में नहीं हो पाता घट के तरफ से मिट्टी में तादाद में है मिट्टी की तरफ से घट में तादाद में नहीं है किंतु यह दोनों तरफ से करते हैं वह मैं हूं मैं वही हूं ऐसा ग्यारह पर त्यागरी ने ऐसा उपदेश किया <clears throat> टीका में कहते हैं प्रधान विद्या उपदेश मुख्य उपासना बताई या विद्या मानी उपासना मुख्य उपासना हो गई प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म पूर्व दशम खंड में मुख्य उपासना की चर्चा हो गई प्रधान विद्या उपदेश मुख्य उपासना के उपदेश करके अंग विद्या विधान आय उपक्रम थे अब अंग विद्या के विधान के लिए माने अंगोपासना या विद्या में उपासना अंगोपासना विधान के लिए उप आरंभ करते हैं उपक्रम थे मैंने आरंभ संभूय भाषण का संभूय अग्नयो ब्रह्मचारी ने ब्रह्म उक्तवंत मिल करके संभूय मान मिलकर उस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के लिए अग्नियों ने ब्रह्म का कथन किया उपदेश किया कम ब्रह्म खम ब्रह्म प्राण ब्रह्म करके मिल करके उपदेश किया संभूय अग्रयो संभूय ब्रह्मचारी ने ब्रह्म उत्तमता अग्नियों ने मिल करके ब्रह्मचारी के उस उपकोशल के लिए ब्रह्म का उपदेश दिया पूर्व में अब अथ अनंतरम अब अथ शब्द इसके पश्चात मंत्र में अथ अनंतरम प्रत्येक प्रत्येक अग्नि तीन अग्नि है गारहपत्य हम्म, अग्नि है अहावनी अग्नि है अनुहारे पचन अग्नि है तीन अग्नि अथ अनंतरम प्रत्येक प्रत्येक अग्नियों ने स्वस्व विषयाम विद्याम भक्तुम आर्य भिगे प्रत्येक ने अपने अपने विषय अपने अपने को विषय करने वाली जो उपासना है स्वयं स्वयं को विषय करने वाली उपासना है यह कहने के लिए आरंभ किया आर्य भिगे आरंभ किया तत्र आदौ एनम ब्रह्मचारिणम गार्भपत्यो अग्निर अनुशास सबसे पहले तीनों अग्नियों ने अपनी अपनी उपासना बताने के आरंभ किया है इसमें तत्र माने उन तीनों में से आरोप पहले प्रथम एनम ब्रह्मचारी इस ब्रह्मचारी को अथाह एनम एनम ये ब्रह्मचारी को गारपत्य अग्नि अनुशास गारपत्य अग्नि ने उपदेश किया क्या कहा कहते मेरे शरीर का चार भाग है चार विभाग है पृथ्वी है अग्नि है अन्न है आदित्य है मैं चार भाग में विभक्त होकर के बैठा हुआ हूं दारिपत्य अग्नि ने ऐसा कहा पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य की मम एता चतस्र तनव मेरे चार शरीर हैं चतस्र मैंने चार तनव तम शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए चतस्र कहा मेरे चार शरीर पृथ्वी और अग्नि और अन्न और आदित्य ये चार मेरे शरीर हैं ऐसा कार्यपत्य अग्नि उपदेश किया तत्र उन चार, शरीर में से कहते हैं यह आदित्य ऐसा पुरुष पुरुषों दृश्य थे आदित्य में जो पुरुष दिखाई पड़ता है आदित्य माने जो पिंड दिखाई पड़ता है आदित्य उसके भीतर में जो पुरुष दिखाई पड़ता है आदित्य मंडलस्थ पुरुष जैसे हम ध्येयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती बोलते हैं सविता का हम उपासना नहीं करते हैं इस पिंड की नहीं पिंड के बीच में रहने वाला जो पुरुष हो रहा है वो तो परमात्मा है उसकी उपासना गायत्री के द्वारा उसकी उपासना करते हैं सूर्योपस्थान ऐसा होता है तत्र माने तीनों अग्नि में से ये चारों शरीरों में से पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य में से यह आदित्य ये सब पुरुषों दृश्य थे इस आदित्य में जो पुरुष दिखाई पड़ता है थे सोहम अश्मी गार्हपत्य अग्नि वही मैं गार्हपत्य अग्नि हूं हम्म, जो आदित्य में जो दिखाई पड़ता है मैं गार्हपत्य अग्नि हूं यश्च गार्हपत्य अग्नि और जो मैं गार्हपत्य अग्नि हूं यहां पृथ्वी में कार्यपत अग्नि हूं सैव हम आदित्य पुरुष मैं ही आदित्य में पुरुष हूं माने जो आदित्य में पुरुष है मैं कार्यपत्य अग्नि हूं और जो मैं कार्यपत्य अग्नि हूं आदित्य में पुरुष है माने दोनों एक है माने तादात में करना वो इसमें और उसमें भेद नहीं अभेद है आदित्य मंडलस्थ पुरुष और गार्यपत्य अग्नि में अभेद है ये दिखाने के लिए यहां से वहां अभेद किया और वहां से यहां अभेद किया ऐसा है अच्छा पुनः परावृत्य सैव अहम सिद्ध बचाऊ पहले तो कहा था दोबारा वापस करके वही मैं हूं कहा पहले आदित्य मंडल में जो तो पुरुष है वो गारिपत्य अग्नि का और जो मैं वही गारिपत्य अग्नि हूं वही मैं हूं ऐसा करके पुनः परावृत्य परावृत्य परावृत्ति के द्वारा दोबारा आवृत्ति के माध्यम से सैव अहम अस्वीर यही कथन है कि वह आदित्य मंडल पुरुष मैं ही हूं मेरे से भिन्न नहीं है यह सिद्ध होता है कहा पृथ्वी अन्न योरी व लक्षण यो संबंधो न गारेपत्य आदित्य हो यह चार शरीर बताया था गारेपत्य अग्नि ने मेरे चार शरीर के चार भाग है कहा था पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य जैसे पृथ्वी और अन्न भोज्य रूप में है और यह गारेपत्य अग्नि और आदित्य भोक्ता रूप में है ये कहना चाहते हैं पृथ्वी अन्न योरी जैसे भोज्यत लक्षण पृथ्वी और अन्न जैसे भोज्यत्व स्वरूप भोग्य है वो पृथ्वी भोगा जाता है भोगता नहीं अन्न भी भोगता नहीं भोगा जाता है पृथ्वी अन्न योरिव उज्जत्व लक्षण जो पृथ्वी और अन्न के समान जो भोज्यत्व स्वरूप संबंधो न गारपत्य आदित्य हो गारपत्य और आदित्य में वो संबंध नहीं भोज्यत्व स्वरूप संबंध नहीं है वो तो भोगता है तो गारपत्य आदि मैंने बेदरी की दृष्टांत दिया क्यों अतृत्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्म अविशिष्ट ये दोनों में देखो समान धर्म दिखाई पड़ता है ये गारपत्य अग्नि में अतृप्त धर्म है माने अग्नि में कुछ आहुतियां डाली जाती है अग्नि खाती है आहुतियों को खाती है अतृत्व धर्म है और आदित्य में पक्तृत्व धर्म है फल आदि पकाने का धान आदि पकाने का काम करते हैं आदित्य अतृत्व पक्तृत्व और प्रकाशन धर्म दोनों में प्रकाश स्वरूप है ये अग्नि में गारपत्य अग्नि और आदित्य में दोनों प्रकाश स्वरूप है प्रकाश धर्म अविशिष्टा समान है यहां इसलिए इत्यत इस हेतु से एकत्व एवं अनजर अत्यंत अत्यंत एकत्व है माने अभेद है अत्यंत अभेद है एक दोनों में गारपत्य अग्नि में और आदित्य में अभेद है पृथ्वी अन्न योस्तु भोज्यत्व आभ्याम संबंध ये दोनों के साथ पृथ्वी और अन्न का भी संबंध होगा गारहपत्य अग्नि और आदित्य के साथ कैसे भोज्यत्व भोग्यत्व रूप से भोक्तृत्व रूप से नहीं ये दोनों भोक्ता कोटि में है और अन्न और पृथ्वी भोज्य कोटि में है चार शरीर में से दो भोज्य कोटि में है दो भोक्ता कोटि में है अग्नि और आदित्य भोक्ता कोटि में है और अग्नि और अन्न पृथ्वी और अन्न भोज्य कोटि में कहा पृथ्वी अन्न जो वस्तु संबंध है आदित्य और अग्नि के साथ संबंध पृथ्वी और अग्नि का भी है कैसे भोज्यत्व आद्यम शब्द भोज्य रूप से भोग्य रूप से इन दोनों में संबंध है ये कहा ठीक है हम कहते हैं अनंतरम भाष्य में था अथ अनंतरम अथ शब्द का था अनंतरम कहा था अनंतर मैंने क्या प्रधान विद्या उपदेशात इतिहास प्रधान विद्या उपशेषात अनंतरम ऐसा भाष्य में पंक्ति होगी मुख्य उपासना के कथन के पश्चात यह अग्नि विद्या वक्त आरब्धा नाम अग्निनाम मध्य प्रथम श्रुतौ अथ शब्दार्थ कहते अथ आया हुआ मंत्र में इसका अर्थ करते हैं अग्नि विद्या वक्तुम आरब्धा नाम अब यहां पर अग्नि विद्या कहने के लिए आरंभ जो किया जा रहा है इसमें अग्निनाम मध्य जितने अग्नि तीन अग्नियां हैं इनमें से प्रथमम यदि श्रुत अथ शब्दार्थ ये श्रुति में अथ शब्द आया प्रथमम पहला श्रुति में अर्थ शब्द इसके लिए प्रथम होगा मान अग्नि विद्या यहां आरंभ करना है तो उनमें से प्रथम गारपत्य अग्नि ने उपदेश किया ये बोलना चाह रहे हैं पृथ्व्यादि चतुष्टयम अनुद्य अग्नि आदित्य और अवान्तर भेदम दर्शेगी पृथ्वी आदि चार का उपदेश किया मेरे चार शरीर है कहा पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य एकारपत्य अग्नि ने बताया इस पृथ्वी आदि चार का अनुवाद करके अग्नि आदित्य और अवान्तर भेदम दर्शे अग्नि और आदित्य में विशेषता दिखाते हैं क्या विशेषता है तत्र कहा इसमें और इसमें अभेद है विशेषता यह है किसमें गारपत्य अग्नि में और आदित्य मंडलस्थ पुरुष में अभी नहीं दिखाया तत्र या आदित्य आदित्य एस पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मी गारपत्यो अग्नि यश्च गारपत्यो अग्नि सैव हम आदित्य पुरुष अस्मी का जो आदित्य मंडल में पुरुष दिखाई पड़ता है मैं गारपत्य अग्नि हूं वो और ये जो मैं गारपत्य अग्नि हूं आदित्य मंडल पुरुष है दोनों में विशेष ये दिखाई दोनों ने कहा ठीक है एवं अग्नि आदित्य तादात्म्य शब्दार्थ इति शब्द आया हुआ है तो कहा जैसे आदित्य और अग्नि में तादात्म्य हो गए उसी प्रकार अग्नि और आदित्य में भी उसी प्रकार का तादात्म्य होगा ये कहा एवं अग्नि आदित्य तादात्म्यम इति इति शब्दार्थ जो भाष्य में इति शब्द है उसका अर्थ है पुरुषो अश्मि इति का अर्थ है जैसे आदित्य और अग्नि में तादात्म्य है इसी प्रकार अग्नि और आदित्य में भी तादात्म्य है ग्यारह प्रत्येक अग्नि आदित्य तादात्म्य कहने के इति लगाया कहा यश आदित्य पुरुषो दृश्यते सोहमअस्मी यतावता एव तयोस्तादात्म सिद्धे सएव अस्मी पुनरुक्ति अनर्थिका आशंका एक शंका होती है यव आदित्य पुरुषो दृश्यते सोहमअस्मी इतने कारण से काम चलता फिर दोबारा जो आदित्य मंडल से पुरुष है वो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है जो मैं हूं आदित्य मंडल पुरुष है कहने की आवश्यकता क्या है जो आदित्य मंडल में पुरुष है वही मैं हूं इतने कहने से तादाद में हो गया किंतु दोबारा फिर जो मैं हूं वही आदित्य मंडल पुरुष कहने के क्या मतलब ये शंका यही शंका है यहां ये कहना या, ये आदित्य पुरुषो दृश्य थे जो आदित्य मंडल में जो पुरुष दिखाई देता है सोहम अश्मी इति यथार्थ वही मैं हूं गारिपत्य अग्नि इतना बोले इतने मात्र से ही तयोश तादात्म सिद्ध ये दोनों का अग्नि और आदित्य का तादात्म सिद्ध होने पर सिद्ध होने से सैव अहम अस्मी फिर दोबारा कहा वही मैं हूं क्यों कहा दोबारा पुनर् पुनरुक्ति अनर्थिका दोबारा कहना ये अनर्थक है इति आशंका कहा पुनर्परावृत्तिया सैव आश्रित वचन वही मैं हूं कहा जैसे घट का तादाद में मिट्टी में तो हो जाता है हाँ, मृत घटा ऐसा बोला जाता है किंतु घटा मृत ऐसा नहीं होता या एक तरफ से तादाद में है घट मिट्टी ही है किंतु मिट्टी घट नहीं है मिट्टी घर से अतिरिक्त है या एक तरफ से तादाद में है किंतु यहां दोनों तादाद में लेना है जो आदित्य मंडल में पुरुष है वो मगार्यपत्य अग्नि हूं और जो मैं गार्यपत्य अग्नि हूं वो आदित्य मंडल पुरुष यहां दोनों के तादाद अत्यंत अभेद दिखाना चाहते हैं अत्यंत अभेद ये दिखाने के लिए ऐसा कहा ये बताया अभी कहते हैं पृथ्वी अन्न में भोज्यत्व लक्षण संबंध है ऐसा गारपत्य आदित्य में भोज्यत्व लक्षण संबंध नहीं कहा था भाष्य में भाष्य में कहा था पृथ्वी अंगयोरी व भोज्यत्व लक्षण हो संबंधो न गारपत्य आदित्य हो जैसे पृथ्वी और अन्न में भोज्यत्व लक्षण है उसको भोगा जाता है खाया जाता है इत्यादि इस प्रकार आदित्य और गारेपत्य में ऐसा संबंध नहीं है क्योंकि तादात है वो माने भोक्तृत्व क्या संबंध है अतृत्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्म है वहां तो यह अग्नि में अतृत्व धर्म है आदित्य में पटतृत्व तो धर्म है फल आदि पकाने का काम करते हैं आदित्य और दोनों प्रकाश स्वरूप हैं भोज्यत्व लक्षण ऐसा संबंध नहीं होगा ये कहा ठीक है यही बोलते हैं भोज्यत्व लक्षण स्वभाव हो लक्षण माने स्वभाव भोज्यत्व स्वभाव है पृथ्वी और अन्न का लक्षण शब्द का स्वभाव यही हो भोज्यत्व लक्षण माने स्वभाव हो यही पृथ्वी अन्न यो पृथ्वी और अन्न का ऐसा है तयोर गारे ना यथा संबंध है के साथ में क्या संबंध है भोज्यत्व संबंध है क्या संबंध है गारे भोक्ता है वो भोज्य है इस प्रकार तथा गारेपत्य आदित्य और न संबंध है उस प्रकार का भोज्यत्व लक्षण संबंध गारेपत्य का और आदित्य का नहीं है किंतु तादात्म्य लक्षण है इनमें तादात्य यहाँ भोक्ता और भोज्य रूप में संबंध दिखाई पड़ता है गारेपत्य अग्नि में और पृथ्वी अग्न में किंतु आदित्य के साथ में गारेपत्य अग्नि को देखते हैं तो तादात्म्य दिखता है ये कहा अतृत्व पक्तृत्व प्रकाश अंदरमा विशिष्टा कहा पृथ्व्यादो अपनी तादात्मक न सियाद पृथ्वी आदि पृथ्वी के साथ भी क्यों तादात्म नहीं होगा अन्न के साथ भी क्यों नहीं होगा यह संघ आगे तो कहा पृथ्वी अन्य वस्तु भोज्यत्व आद्याम संबंध गारिपत्य अग्नि और आदित्य के साथ संबंध इनका आद्या माने इन दोनों के साथ संबंध पृथ्वी और अन्न का भोज्यत्व रूप से ही है भोक्तृत्व रूप से नहीं एक कहा टीका में कहते हैं आभ्याम अग्नि आदित्याभ्याम इतिहावत जो भाष्य में भुज्यत्व आभ्याम संबंध आभ्याम का था अग्नि आदित्याभ्याम सएव अहम अस्मी परावृत्तिया पुनर्वतनम यथोक्तार्थ विशेष सिद्धार्थम सएव अहम अस्मी कहा यश आदित्य पुरुषो दृश्य थे सोहमस्मी और यव गारपत्यो अग्नि सैव अहम अस्मी दोबारा वहां भी जाके पहले वहां से में यहां दिखाया फिर यहां से में वहां दिखा रहे हैं यही दोबारा आवृत्ति करके कहा सैव अहम अस्मी थी परावृत्ति दोबारा आवृत्ति के द्वारा पुनर्वचन दो बार जो कहा गया वह अर्थ विशेष सिद्धार्थम यथोक्त माने भोक्तृत्व अक्तृत्व प्रकाशन धर्म को दिखाने के लिए इसके लिए कहा एक गारपत्य अग्नि का उपदेश हो गया आगे इसका फल बताते हैं सयतम एव विद्वान उपास्ते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवती सर्व आयुरेति योग जीवती नाश्यावर पुरुषा क्षीयते उपवय तम भुंजामो अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्च यम एवं विद्वानुपास्ते स येतम एवं विद्वानुपास्ते अपहते पापकृत्याम लोकी भवती सर्व आयुरेती लोक जीवती नाश्यावर पुरुषा क्षीयते उपवयम ताम भुंजामो अस्मिश्चलोके अमुष्णश्च एवं एवं विद्वानुपास्ते स एतम एवं विद्वानुपास्ते इस प्रकार गार्यपत्य अग्नि और आदित्य गार्यपत्य अग्नि के चार शरीर हैं पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य चार हैं और पृथ्वी और अन्न भोज्य रूप में है आदित्य और ये भोक्ता रूप में है इस प्रकार समझ करके जान करके जो उपासना करता है या कोई भी हो एतम एवं विद्वान उपास इस प्रकार के पूर्वोक्त मंत्र में कहा गया सब समझ करके उपासना करता है तो अपहते पाप कृत्या पाप कर्मों का नाश कर जाता है उसके यहां पाप कर्म नहीं रहेगा पाप कृत्याम पाप कर्म पाप कर्म का नाश करेगा लोकी भवती और अग्निलोक से आग्नेय लोक से संबंधित होगा लोक वाला होगा हाँ, अग्नि संबंधी लोक प्राप्त करेगा मरने के बाद सर्वम आयु रेती कहते हैं संपूर्ण आयु जो शतायुर्वय पुरुष कहा हुआ है पूर्णायु होगा पूरी आयु प्राप्त करके जाएगा अल्पायु नहीं होगा और योग जीवती उज्जवल जीवन होगा समाज में प्रख्यात होगा उज्जवल जीवन यही है समाज में प्रख्यात होना निंदित नहीं होना प्रशंसनीय जीवन जीना योग योग जीवन होता है उज्जवल और न अश्य अवर पुरुषा क्षीयंते इसके आगे जो संतान होंगे अवर आगे आने वाली संतान उनका दास नहीं होगा संतान परंपरा चलती रहेगी इस उपासक पे यहाँ ये लौकिक फल है और उपवयम तम भुंजामो अस्मिश्य लोके अमुष्मिश्य कहा वयम तम उपभुंजाम उस उपासक को हम अग्निया हम जो अग्नि है वयम माने हम लोग अग्नि अग्नि बोल रही है हम वयम उपभुंजाम अश्मिष्ट लोके अमुष्मिष्ट है उपभुंजाम इस लोक में भी हम उसकी रक्षा करेंगे और परलोक में भी हम उसकी रक्षा करेंगे उस उपासक की इस लोक अश्मिष्ट लोक है इस लोक में हम रक्षा करेंगे क्यों हमारी उपासना की है इसमें और अमुष्मिष्ट लोग उस लोक में माने मरने के पश्चात जो दूसरा लोक मिलेगा लोग दो ही होते हैं यह लोक और परलोक लोक कहते भुज्यते कर्म फलम इति लोक शरीरम लोक शब्द का अर्थ शरीर है दो ही शरीर है जहां बैठे हैं यह श्लोक है अब ये ये लोक हमारा है और आगे ये छोड़ करके जहां जिस शरीर में जाना है परलोक वही है लोग दो ही होता है बाकी लोग ऐसा नहीं पौराणिक लोग है बाकी तो मुख्य लोग दो ही होते हैं श्लोक और परलोक जहां अभी हम बैठे हैं कहां बैठे हैं अभी मानव शरीर में बैठे हैं अभी ये हमारे लिए श्लोक है ये और ये शरीर छोड़ने के बाद जिस शरीर में हमें जाना होगा वो परलोक और वहां जाने के बाद वो हो जाएगा श्लोक जिसमें बैठेंगे और आगे फिर जो मिलना होगा पर लोग ही तो होता है और क्या होता है तीसरा लोग नहीं है अध्यात्म में ऐसा होता है दो ही लोग होता है तो श्लोक और परलोक है दो ही लोग माने ये शरीर में भी हम रक्षा करेंगे परलोक में भी रक्षा करेंगे कहा किसको रक्षा करेगा ये एतम एवं विद्वान उपास इस प्रकार मेरे जो चार शरीर हैं पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य चार शरीर हैं और मेरे में और आदित्य मंडल पुरुष में अभेद जो बताया ये सब पूर्व मंत्रोक्त बातें कोई एकदम विद्वान इस प्रकार जानने वाला जो होगा उपासना जान जानता हुआ जो उपासना करेगा उसके लिए सब जितने बताए हुए फल सारा फल मिलना है ये कहा ठीक है हमें कहते हैं उक्ताया विद्याया गारहपत्य विषयाया द्विविधम फलम दर्शती जो पूर्व मंत्र में कही गई जो गारहपत्य उपासना है विद्या माने उपासना उक्ताया विद्याया जो उक्त उपासना है पूर्व मंत्र में कथित उपासना किसके गारिपत्य विषय है या गारिपत्य अग्नि को विषय करने वाली उपासना बताई है पूर्व मंत्र में अनुहार्य पचन वाला नहीं आवाहनी आह्वानीय वाला नहीं गारिपत्य अग्नि को विषय करने वाली उपासना बताई गई थी उसका द्विविधम फलम कर से दो प्रकार का फल श्लोक में फल दृष्ट फल अदृष्ट फल दृष्ट फल श्लोक का फल होगा अदृष्ट फल परलोक का होगा दोनों फल का कथन करते हैं सह भाष्य में कहा सय कश्चित जो कोई भी हो एवं यथोक्तम गार्हपत्य अग्निम अन्न अन्नादत्व ने चतुर्था प्रभुक्तम जो गार्हपत्य अग्नि है चार प्रकार के शरीर बताया दो अन्न रूप में है दो अन्नाद रूप में है माने पृथ्वी और अन्य भोज्य रूप में है अन्न रूप में है और गार्हपत्य अग्नि और आदित्य भोक्ता रूप में है अन्न और अन्नाद रूप दो अन्न रूप में है दो अन्नाद रूप में है ये कहा स कश्चित यथोक्तम कश्चित एवं यथोक्तम पूर्वोक्त मंत्र में कहा पूर्व मंत्र में कहा हुआ गारपत्य अग्निम गारपत्य अग्नि को अन्न अन्नादत्व चतुर्था प्रविभक्तम गारपत्य अग्नि चार रूप में विभक्त है अन्न और अन्नाद भाव में है भुज्य और भोक्ता दो रूप में प्रभक्तम उपास इस प्रकार गारपत्य की भी उपासना करता है सो स वो व्यक्ति अपहते माने विनाश है नाश करेगा क्या नाश करेगा पाप कृत्य माने पाप कर्म पाप कर्मों को धो डालेगा उसके पाप कर्म नहीं रहेगा एक लोकी भवती आया लोकी माने लोकमाश्च अस्मदीय न लोके न आग्नेय न तलवान भवती हमारा जो लोक है कौन है आग्नेय लोग हम अग्नि हैं गारिपत्य अग्नि में हूं हमारा लोग आग्नेय लोक है अग्नि संबंधी लोग को आग्नेय बोला हुआ है लोकी लोकवास माने अस्मदीय ना लोके ना आग्नेय ना जो हमारा लोक है आग्नेय लोक माने अग्नि बोल रही है तदवान बहुत ही लोकी हो जाता लोकवाल हो जाता है यथा वयम जैसे हमें हम अग्निलोक वाले हैं हम इसी प्रकार वो भी अग्निलोक वाला होगा उपासक यह च लोके सर्वम वर्षस्वम आयु रेती प्राप्त होती कहा और इस लोक में जब तक जीवित रहेगा इस लोक में क्या होगा सर्वम माने वर्ष सतम आयु रहती सर्वम आयु रहती कहा सर्व आयु माने क्या है सौ वर्ष की आयु शतायु पुरुष श्रुति बोलती है तो यह आयु को प्राप्त करता है कहा और योग माने उज्ज्वलम जीवती माने प्रशंसनीय जीवन जिएगा निंदित जीवन नहीं जिएगा योग माने उज्जवल योग अव्यय है उसका अर्थ उज्जवल होता है प्रकाश प्रकाश स्वरूप उज्ज्वलम जीवती न अप्रख्यात है कहते अप्रख्यात जीवन नहीं ख्याति प्राप्त होगा ऐसा जीवन होगा न तो अश्य अवराष्ट्र ते पुरुष अश्य संतति जा इत्यर्थ उसके जो अवर पुरुष है माने संतति है अवराष्ट्रते पुरुष अवर पुरुष है माने कर्मधारी समाज जो आगे आने वाले पुरुष हैं संतान हैं संतति हैं वह न क्षीयते संतति उच्छेदो न भवती इत्यर्थ उनके संतान परंपरा का उच्छेद नहीं होगा संतान परंपरा चलती रहेगी ऐसा होगा किंच तम वयम उपभुंजाम हम जो अग्नि हैं हम उसकी रक्षा करते हैं भुज धातु है भुज पालन अव्यवहार जो पालन अर्थ में या खाने अर्थ में यहां पालन अर्थ में प्रयोग किया गया भुज धातु है तम वयम उपभुंजाम हम उसके रक्षा करते हैं माने उपभुंजाम माने पालयाम पारक्षण है उसकी पालयाम बनाया हम रक्षा करते हैं अस्मिश है जीवंतम इस लोक माने जीवंतम जीते जी हम लोग रक्षा करते हैं और में जब परलोक है और आगे इस शरीर पाप के बाद में परलोक में जो शरीर होगा वहां भी हम रक्षा करते हैं कहा दृष्टफल अदृष्टफल दोनों बता दिया या एतम एवं विद्वान का इस प्रकार समझ करके प्रत्येक अग्नि के विषय में जान करके जो उपासना करता है यथोक्तम तस्य एतम फलम ये जो पूर्वोक्त फल उसी के लिए है ये कहा ठीक है कश्य एतद फलम यदि अपेक्षायाम उत्तम एवं संक्षिपति ये फल किसको मिलेगा इतने जो फल बताया उपासना का फल किसको मिलना है कहा जो उपासना करेगा ये संक्षेप बताया यही एतम एक विद्वान उपास इस प्रकार जान जो उपासना करेगा उसे फल मिलेगा और किसको बता दिया आगे मंत्र अथ इनम अन्वाहार्य पचलो अनुशास आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा इति ययेष चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सोहमस्मी सैव अहमस्मीति अथाहैनम अन्वाहार्य पचनो अनुशास आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा जयेश चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सोहमस्मी सैव अहमस्मीति अथ अनंतर अनंतर माने गाढ़पत्य अग्नि के उपदेश के अनंतर हाँ प्रसिद्ध है एनम उपकोशलम इस उपकोशल को अन्वाहार्य पदरो अनुशास अन्वाहार्य अनुमाने प्रतिदिन पचन माने पकाना जहां प्रतिदिन पकाया जाता है खाना पकाने वाले आदमी भोजन पकाने वाले आदमी अनुहार पचन हो अनुशास पश्चात उसने उपदेश किया क्या कहा भाई मेरे भी चार शरीर है बोला जैसे नारपत्य अग्नि के चार शरीर है तो मेरे भी चार है आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा जल दिशाएं नक्षत्र और तारे और चंद्रमा ये मेरे चार शरीर है अनुहार भजन ने कहा आप मैंने जल और दिश दिख मन दिशा और नक्षत्र जितने भी तारे गण हैं और चंद्रमा है मेरे चार शरीर हैं कहा दी और या ये से चंद्रमसी दृश्य थे शोभमस्मी जो चंद्रमंडल के भीतर में जो पुरुष दिखाई पड़ता है सबके लिए नहीं ब्रह्मवेत्ताओं को दिखाई पड़ता है ज्ञान में दिखाई पड़ता है जो सोहम अस्मी वही मैं हूं मैं कौन हूं अनुहार्य भजन अग्नि हूं चंद्रमंडल के भीतर जो पुरुष दिखाई पड़ता है वो मैं अनुहार्य पचन अग्नि हूं और जो मैं अनुहार्य पचन हूं वही मैं हूं ये कहा सएव हम अश्मी जो अनुहार्य पचन अग्नि हूं वही मैं हूं वही मैं वही हूं ऐसा कहा अत्यंत में दिखाने के लिए परावृत्ति करके आवृत्ति करके बोला ये कहा आगे मंत्र है सय एवं विद्वान उपास अपहते पापकृत्याम लोकी भवती सर्वम आयुरेति योग नाश्यावर पुरुषा क्षीयते उपवयम तम भुंजामो अस्मिश्लोके अमुस्मिश्च येतमेदम विद्वानुपास्ते सय विद्वास्ते अपहते पापकृत्या योगी भवति सर्वम् आयुरेति योग जीवती नाश्यावरपुरुषः क्षीयन्ते उपवयम् तम् भुञ्जामो अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च य विद्वानुपास्ते सया जो कोई भी हो एतम एवं विद्वान पात इस प्रकार अनुहारी पतन के विषय में जो चार शरीर हैं आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा कहा हुआ है इस प्रकार जो उपासना करता है और चार शरीर है और चंद्रमंडल में जो पुरुष है वो मैं हूं अनुहार पचन हूं और जो मैं अनुहार पचन हो चंद्रमंडल पुरुष है ऐसा करके जो उपास जान करके उपासना करता है अपाते पाप कृत्यम पूर्व जैसे ही पाप कर्म का नाश करेगा वो और लोकी भवती लोकवान होगा और सर्वम आयु रेती शतवर्ष की आयु पूरा करेगा योग जीवती उज्जवल जीवन होगा प्रख्यात जीवन होगा नाश्य पर पुरुषाक्षी अंत इसके संतति का परंपरा का नाश नहीं होगा व्यक्ति तो नाश होते जाएंगे क्योंकि परंपरा चलती रहेगी संतान के उपभयम तम गुंजाम अश्म श्लोके अमुष्म का वयम हम तम उपगुंजाम हम पालयाम उसको हम रक्षा करेंगे करते हैं करेंगे कहा इस लोक में भी परलोक में भी इस शरीर में भी रक्षा करेंगे पर शरीर में भी रक्षा करेंगे किसको रक्षा करना तो कहा या एतम एवं विद्वान उपास कहा इस प्रकार पूर्वोक्त तो मंत्र में कहा हुआ जो अनुहार्य वजन के विषय में है चार शरीर और एक दूसरे के तादाद में दिखाना इत्यादि समझ करके उपासना करता है बताया भाष्य में कहते हैं अथ हैनम अनुहार्य वजनो अनुशास अथ मान अनंतर नारे प्रत्यग्नि के उपदेश के अनंतर अनुहार पतन में उपदेश किया अनुहार पतन में दक्षिणाग्नि इसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं माने जब वास्तु के हिसाब से जब गृह बनाया जाता है दक्षिण दिशा में भोजन की व्यवस्था होती है इसलिए दक्षिणाग्नि कहा जाता है वास्तु के हिसाब में ऐसा होता है चूल्हा जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए अथा हम अनुहार पतन अनुशासा माने कौन दक्षिणाग्नि अनुहार भजन मैंने दक्षिणाग्नि भी शब्द आता है उसका दक्षिणाग्नि कहा दक्षिण दिशा में रहने के कारण दक्षिणाग्नि कहा तो क्या कहा दक्षिणाग्नि आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा इति यथा मम चतस्र स्तनव मेरे चार शरीर हैं कहा क्या कौन कौन है तो कहा जल है दिशाएं हैं नक्षत्र हैं नक्षत्र में तारे और चंद्रमा चार तनु शरीर चतुर्धा अनुहारी पचन आत्मान प्रकृतज्ञ अवस्था मैं जो अन्वाहार्य पचन हूं ना अपने को चार प्रकार से विभक्त करके बैठा हूं चतुर्धा आत्मान प्रविभज्य अवस्थित अनुहारी पचन मैं जो अनुहारी पचन अग्नि हूं मैं अपने को चार भाग में विभक्त करके बैठा हूं जल रूप में हूं और दिशा रूप में हूं नक्षत्र रूप में हूं चंद्रमा रूप में हूं चार रूप में हूं ऐसा बताया तत्र उनमें से विशेषता क्या है हाँ, यश चंद्रमसी पुरुष दृश्य तो चंद्रमंडल के भीतर में जो पुरुष दिखाई पड़ता है सोहम अस्मी वही मैं अनुहारी वचनाग्नि हूं सो अहम अस्मी अहम अनुहारी वचना मैं हूं सएव अहम अस्मी और ये जो मैं ये अनुहारी वचनाग्नि हूं सैव वही मैं हूं ऐसा कहा पूर्ववत पहले जैसे ही अर्थ करना कहा और अन्न संबंधात ज्योतिष तो सामान्याच अनुहारी वचना तो अन्नाहारी पचन क्यों कहा कहते अन्न के साथ इनका संबंध है भोजन पकता है और जो प्रकाश सामान्य है हम्म, ये कहा अन्न संबंधात एक तो अन्न का संबंध होने से और चंद्रमा में देखते हैं तो ज्योतिष तो है ये दोनों का संबंध होता है एक तो अन्न का संबंध है चंद्रमा भी अन्न के संबंध है पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवार सात्मक आया गीता पंच अध्याय अन्न के साथ संबंध चंद्रमा का भी है और यह अग्नि का तो है ही है खाना पकाने का काम करती है अन्न संबंधात एक तो अन्न के साथ संबंध है दोनों का अन्न पचन अग्नि का और चंद्रमा का और दूसरा प्रकाश ज्योतिष तो सब तो सामान्य है दोनों में प्रकाश है इसलिए तादाद होगा अन्न संबंधा ज्योतिष तो चल अन्वाहार्य पचन चंद्रमसुर एकत्व ये दोनों में एकता क्यों तादाद में क्यों किया गया जो चंद्रमंडलस्थ पुरुष वही मैं अनुहार्य वचनाग्नि हूं जो अनुहार्य वचनाग्नि हूं चंद्रमंडल पुरुषों का क्यों कहते हैं इन दोनों में एक ही सादृश्य है क्या सादृश्य है एक तो दोनों में अन्न का साथ संबंध है दोनों का यहां अन्न पकता है और अन्न का पोषण करने वाला है चंद्रमा एक तो अन्न का ताप सादृश्य है इनमें संबंध है दूसरा है प्रकाश प्रकाशत्व तो सादृश्य है ज्योतिष तो सादृश्य है ये भी प्रकाशशील है अग्नि और वो चंद्रमा भी प्रकाशशील है इसलिए अन्वाहार्य पचन संभ्रमसोड़ एकत्वम यही दो सामान्य सादृश्य होने से हम्म, अन्न संबंध ज्योतिष संबंध होने से अन्वाहार्य पचन और चंद्रमा में एकता है तादात्म है कहा तीसरे संबंध भी इनका है एक तो अन्न का संबंध और एक ज्योतिष संबंध तीसरा संबंध होता है दक्षिणाधिक संबंध आ जाए दक्षिण दिशा की तरफ संबंध है भोजन पकाने वाले अग्नि दक्षिण दिशा में है ही है चंद्रमा ये जो चंद्रमा भी दक्षिण दिशा की ओर आने वाले हैं ये कहते हैं दक्षिण दिख संबंध आचार दक्षिण दिशा के साथ संबंध होने से भी इनके तादाद में तीन संबंध दिखाई पड़ता है इनके तादाद में हमारे अग्नि का और चंद्रमा का तादाद में तीन संबंध दिखाई पड़ता है कहा और अपाम नक्षत्राम से पूर्वत अन्नत्व के संबंध है और जल और नक्षत्र जो थे ये पहले जैसे भोज्य रूप में थे अन्न रूप में थे पूर्वक में ऐसे यहां भी ऐसे संबंध ये भोक्ता नहीं अनुहार्य पतन और चंद्रमा भोक्ता रूप में और ये जो जल और नक्षत्र है जल ये दोनों भोज्य रूप में है अन्न रूप में है समझना ये कहा नक्षत्राणाम चंद्रमस और भोग्यत्व प्रसिद्ध कहते हैं नक्षत्र और चंद्रमा में भोग्यत्व की प्रसिद्धि है भोग्य प्रसिद्धि है अपाम अन्वत्पादकत्वाद अन्नत्व जल को अन्न क्यों कहा यहां तद अन्न का उत्पादक है वो संबंध अन्न के साथ इसे अन्न बोल दिया उसको जल से अन्न होता है अन्न का उत्पादक है अन्न के साथ संबंध होने से अन्न शब्द से कह दिया जल को अपाम अन्नोत्पादकत्वाद अन्नतम जल को अन्न इसलिए बोला यहां अन्न उत्पादक होने से अन्न का उत्पादकत्व है दक्षिणाग्रह दक्षिणाग्रह माने वही अन्नाहार भजन का अन्न है दक्षिणाग्रह माने अन्नाहार भजन से ऐसा होगा अन्नाहार भजन का अन्न है ये कहा पृथ्वीवत गारपत्य पृथ्वी इव पृथ्वी वर्ग गारपत्य जैसे पृथ्वी में गारपत्य पृथ्वी जैसे गारपत्य अग्नि का अन्न है उसी प्रकार अन्नाहारी पचन का अग्नि जल है अन्न जल है व्यतिरिक्त जैसे दृष्टांत दिया जैसे पृथ्वी गारपत्य अग्नि का अन्न है उसी प्रकार यहां पर ये जो अन्नाहारी पचन अग्नि है उसका जल अन्न है समान माने तो बाकी समान है व्याख्या एक समान है करके छोड़ दिए ठीक है गारपत्य उपदेश आनंतरम अर्थ शब्दार्थ जो मंत्र में भाष्य में अर्थ शब्द है गारपत्य अग्नि के उपदेश के पश्चात अनुहार पचन का बारी है यह अर्थ शब्द का अर्थ आनंदरी है उसके पश्चात अबादी चतुष्ट अनुद्य दक्षिणाग्रम चंद्रे च विशेषम है कहते अब आदि चार मेरे चार शरीर है करके कहा हाँ, आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा ऐसा बताया था ये अन्नाहरी पचनाग्नि ने चार शरीर बताया इस अप, आदि चार का अनुवाद करके दक्षिणाग्नि चंद्रे च विशेषण थे ये दक्षिणाग्नि माने अन्वाहरी पचनाग्नि और चंद्रमा में विशेष क्या है दोनों का तादात्म्य है ऐसा चंद्र मसी पुरुषो दृश्यते सोहमअस्मी इत्यादि विशेष दिखाया यही कहा विशेषण थी तत्र कहा ये चार शरीर में से तत्र मैंने चार शरीर बताया हाँ। जल है दिशा है नक्षत्र है चंद्रमा है तो चार शरीर में से यह सब चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सोहमअस्मी सएव अहमअस्मी इत्यादि बताया ठीक है अन्वाहार्य पद में चंद्रमसो तादात्म्य अपाम नक्षत्राणाम चाव्याम भुजत्व अनिवार्य पचन अग्नि और चंद्रमा में तालाब में संबंध है भोक्ता रूप में है दोनों और अपाम नक्षत्र नाम से जल और नक्षत्र जो होंगे इनके भोज्य रूप से है अन्न रूप में है संबंध यदि वक्तुम पुनर्वचन द्वारा कहा सएव अहमअस्मी इत्यादि कहा ये दोनों भोक्ता रूप में है और जल और नक्षत्र अन्न रूप में है ये बताने के दोबारा कहा ये बताया कथम पुनर् अनुहार्य पचन चंद्रमस्व तादात्म प्रश्न उठेगा अनुहार्य पचन अग्नि यहां है चंद्रमा वहां है तो दोनों का में कैसे होगा चंद्रमंडल से पूर्व सर अनुहारी भजन का में कैसे होगा कथम पुनर्नुहारी पचन चंद्रवशोष तादात्म अनुहारी पचन अग्नि का और चंद्रमा का में कैसे हो सकता है शंका हुई तो उत्तर देते हैं अन्न संबंधात ज्योतिष सामान्या अनुहारी पचन चंद्रवशोष एकत्व दोनों का अन्न के साथ संबंध है अनिवार्य पचन अग्नि में तो बहुत पक, खाना पकता है अन्न का संबंध है उसमें और चंद्रमा भी अन्न को पोषण करने वाले हैं माने दिन में जो सूर्य के किरणों से रस चूसा जाता है खींचा जाता है रात्रि में चंद्रमा अमृत के वर्षा के द्वारा उसको पुष्टि करते हैं पुष्टामी चौषधि सर्वा सोमोत्तर मैं सारे अन्नों को पुष्ट कर बनाने वाला हूं सूर्य तो शोषण करने वाले हैं मैं उसको पुष्ट करने वाला हूं अमृत वर्षा करा करके ऐसा भगवान ने कहा मैं चंद्रमा बन करके काम करता हूं ऐसा कहा पंचदश अध्याय में गीता में तो अन्न संबंधा एक बताया ज्योतिष सामान्य से बताया देखो अन्न के साथ संबंध कैसे दिखता है कहते देखो अन्नाहार भजन आदि में देखा अग्नि में दिखाई पड़ता है प्रसिद्धम ही पूर्ण महाशय और अन्नाहार हविष्ट पड़ा प्रसिद्ध है माने दस याग याग जब अमावास्या आ जाए पूर्णमासी आ जाए नैमितिक याग होना है तो, याग होना है अमावास्या आने पर यज्ञ करना पड़ेगा पूर्णमासी आने पर यज्ञ करना पड़ेगा नैमितिक यज्ञ है प्रसिद्ध है माने अन्न का संबंध अन्न आर्य पचन में कैसा होता है प्रसिद्ध है प्रसिद्ध हमें दर्श पूर्णमाशय और दर्श याग पूर्णमास याग में अन्वाहारी पचने हवि स्थापना अन्वाहारी पचन अग्नि में हवि हवि पकाया जाता है आहुति तो डाली जाएगी आहवनी अग्नि में किंतु तैयार कहां किया जाएगा अन्नहारी पचन अग्नि में यहां पकाया जाता है ये प्रसिद्ध है तो अग्नि मान अन्न का साथ संबंध है अन्नहारी पचन का आहुति दी जाएगी वहां आहवली अग्नि में किंतु बनाया जाता है तैयार किया जाता है अन्नहारी पचन में अभी श्रवण है वहां ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भगवती इत्यादि चंद्रवशी प्रसिद्ध अन्न संबंध यहां से जो कर्म करके जाने वाले होते हैं ना स्वर्गलोक पहुंचने वाले वहां जाकर के वो भोग्य बन जाते हैं देवताओं का ते चंद्रम प्राप्त है यहां से जाने वाले जो चंद्र लोग जा रहे हैं बड़े बड़े कर्म करके पहुंचे हुए हैं वहां वहां जाकर के सेवक बनना पड़ेगा उनको अन्न बनना पड़ेगा अन्न माने सेवक मालिक नहीं बन पाएंगे मालिक तो वहां बैठे हैं पहले से बैठे हैं ये कहा ते जो कर्म कर कर्मी ते कर्मिणा हाँ, यहां जो कर्म करके बड़े बड़े कर्म करके जो स्वर्ग लोग जा रहे हैं उनकी चर्चा है ते शब्द से उनको लेना है ते ते चंद्रम प्राप्य चंद्र माने स्वर्ग है यहाँ स्वर्ग प्राप्त करके अन्नम भवती देवताओं का अन्न हो जाते हैं कहा है देवता उनकी सेवा लेंगे देवता लोग वहां जाकर जाने के बाद जैसे यहां से अमेरिका जाने वाले बहुत बड़े मानते हैं किंतु वहां सेवा करनी पड़ती है उनको ऐसा है मालिक नहीं बन सकते ते चंद्रम प्राप्त अमन होती इत्यादि इत्यादि मंत्रों में चंद्रमसी प्रसिद्धो अन्न शब्द संबंध चंद्रमा में प्रसिद्ध अन्न संबंध देखा है मैंने चंद्र लोग प्राप्त करने वाले अन्न होते हैं अन्न का संबंध दिखा है चंद्रमा में कहा तस्मात तयो तादात्म्यम यह अन्न का संबंध होने से अनुहारी पचनाग्नि में और चंद्रमा में तादात्म्य है एकता है तयोर एकत्व हेतुअंतर दूसरे भी हेतु है दोनों में अनुहारी पतन अग्निवत चंद्रमा में एकत्व में तादात्म्य में दूसरा हेतु है ज्योतिष्ट सामान्य प्रकाशत्व धर्म है दोनों ये भी प्रकाशशील है वही प्रकाशशील है प्रकाशशील है कहा तत्र चंद्रमा तीसरे हेतु भी है इनमें दोनों में संबंध में क्या है दक्षिणाधिक संबंध दक्षिण दिशा के साथ इनका संबंध है अनुहारी पचन अग्नि घर के दक्षिण कोने में वास्तविक हिसाब से ऐसे होता है और चंद्रमा का भी दक्षिण दिशा में होना देखा है एक अन्वाहार्य पचनो ही दक्षिणाग्नि रुचते ये जो अन्वाहार्य पचन को अग्नि को दक्षिणाग्नि शब्द से कहा जाता है क्योंकि गृह के दक्षिण दिशा की ओर होती है अग्नि हम्म, वास्तु के हिसाब से ऐसा होता है उसको दक्षिणाग्नि बोला जाएगा दक्षिण दिशा के साथ दीक्षा संबंध है अनुहारी पतन का और चंद्रमाश्च और चंद्रमा का भी दक्षिण दिशा के साथ है दक्षिण पथा प्राप्त मार्ग जब दक्षिण मार्ग से चलेंगे दक्षिण की तरफ जाते हैं प्राप्त मानो दक्षिण शाम दिशी भगवती जो दक्षिण मार्ग की तरफ जाएंगे तो दक्षिण दिशा में हो जाते हैं ये संबंध है गम्य थे कहा उत्तर दिख अधिष्ठातुर यद्य भी चंद्रमा उत्तर दिशा उत्तर दिशा के अधिष्ठाता है किंतु फिर भी तस्य तत्संबंधात फिर भी तस् माने चंद्रमा सह उस चंद्रमा का तत्संबंधा दक्षिण दिख संबंध है तत्संबंधा दक्षिण दिख संबंध है अनिवारणात् दर्शन देखा साथ संबंध का निवारण नहीं होता इसलिए न होने से तद युक्तम तयोर ऐक्यम चंद्रमा और अनुहार प्रजन का ऐक्य तादात्म्य सिद्ध है ठीक है युक्त है कहा अपाम नक्षत्राणाम चंद्रवत अन्वाहारी पचन तादात्म्य भाषण कहा फिर शंका होगी कि जो जल और नक्षत्र हैं चार शरीर में दो शरीर ये भी है तो जल और नक्षत्रों का भी चंद्रवत जैसे चंद्रमा के साथ में तादात्म्य है अनुहारी पचन का उसी प्रकार जल और नक्षत्र का भी तादात्म्य होगा ये शंका है अपाम नक्षत्राणाम चंद्रवत अनुहारी पचन है ना तादात्म्य आशंक्य जैसे अनुहारी पचन का चंद्रमा के साथ में तादात्म्य है उसी प्रकार जल और नक्षत्रों का भी तादात्म्य हो ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं नहीं यह भोज्य है अपाम भाष्य में बताया अपाम नक्षत्राणाम च पूर्ववत अन्नत्व नहीं संभव जैसे पूर्व व्याख्या में थी माने गारपत्य अग्नि विषय में कहा था पृथ्वी और अन्न को अन्न बोला था इसी प्रकार यहां भी अन्न रूप से संबंध है इनका अनुहारिपचन तो और चंद्रमा के साथ में जल और नक्षत्रों का संबंध अन्न रूप से है बताया ठीक है पूर्ववत माने क्या है पृथ्वी अन्नयोर गारेपत्य गारेपत्य आदित्याभ्याम अन्नोत्यन संबंध मत पूर्ववत का अर्थ है जैसे पृथ्वी और अन्न का कार्यपति और आदित्य के साथ जो संबंध था अन्न रूप से संबंध था भुज्य रूप से था उसी प्रकार यहां भी अनुहार्य पचन और चंद्रमा के साथ में जल और नक्षत्र का संबंध क्या होगा भुज्यत्व होगा अन्नत्व होगा आगे ठीक है संबंधो अनुहार्य पचन चंद्रमोभ्याम इति शेष संबंध के आगे लगाना होगा भाष्य में जो संबंध शब्द है अपाम नक्षत्राणाम च पूर्वत अन्नत्व संबंध हो या संबंध के आगे इतना शेष लगाना होगा संबंध हो अनिवार्य पतन चंद्रमोभ्याम चंद्रमा शब्द है इसलिए चंद्रमो बनाया तृतीय के वचन है इनके साथ संबंध ऐसा होगा चंद्रमा शब्द है सकारांत है रुक्त होकर के उत्तु हुआ है पद संज्ञा करके इनके साथ ये संबंध होगा होता है कथम नक्षत्राणाम अन्न तो महाराज नक्षत्र कैसे अन्न होगा तारे अन्न कैसे होंगे हम्म। चंद्रमा और अन्नहारी पदन का अन्न कैसे बनेगा नक्षत्र शंका आ गई तथा नक्षत्राराम नक्षत्राणाम भोग्यत्व प्रसिद्ध है नक्षत्र जो है चंद्रमा राजा है नक्षत्राणाम अहम शशि विभूति अध्याय भगवान का नक्षत्र में मेरा स्वरूप देखना हो तो मैं चंद्रमा हूं तारेगण में मुझे देखना हो तो किस रूप में देखना चंद्रमा में देखना वो राजा है और प्रजा भोग्य होता है ये प्रजा है कौन नक्षत्र सारे प्रजा है चंद्रमा की प्रजा है तो प्रजा भोग्य होता है यही है नक्षत्राणाम चंद्रमसो और भोग्य भोग्य प्रसिद्ध का नक्षत्रों का चंद्रमा का भोग्य होना प्रसिद्ध है क्यों चंद्रमा राजा है और ये प्रजा है प्रजा राजा का भोग्य होता है कदम पुनर् अपाम पुनर्अपाम जल कैसे अन्न हो जाते मैंने अनुवार्य पचन का और इच्छा नक्षत्र जल दोनों कहा नक्षत्र चलो हो गया किंतु जल कैसे अन्न होगा अनुवार्य पचन और चंद्रमा का ये शंका आ गई कथम अपाम अन्नत्व तदा अपाम इत्यादि कहा अपाम अन्नोत्पादक अन्नत्व जल में यह संबंध क्या है जल अन्न का उत्पादक है इसे अन्न है वो उसका कार्य अन्न है अन्न का उत्पादक होने से उसको अन्न शब्द से कहा गया ऐसा होता है कार्य जो शब्द होगा कारण में प्रयोग कर दिया जाता है कभी उत्पादक है ऐसा है ठीक है दक्षिणाग्रह दक्षिणाग्नि प्रति दक्षिणाग्रह शब्द है वहां अपाम अन्नोत्पादकत्वाद अन्नोत्तम दक्षिणाग्रह कहा दक्षिणाग्रह जो षष्ठी है उसका अर्थ करना दक्षिणाग्नि प्रति दक्षिणाग्नि के प्रति अन्न है कौन जल कहा आगे ठीक है कहते हैं पृथ्व्या का अर्पत्य अग्निम प्रति अन्नत्वद उदाहरणार्थ जो उदाहरण दिया है पृथ्वी बत जो कहा पृथ्वीवत कार्यपत्य से कहा था उसका अर्थ किया पृथ्व्या कार्यपत्य अग्नि प्रति अन्नत्वत जैसे पृथ्वी कार्यपत्य अग्नि के प्रति जैसे अन्न है उसी प्रकार यहाँ आकृति के प्रति जल उसी प्रकार अग्नि है अन्न है कहा स एतम एवं विद्वान इत्यादि अन्यत इति उत्तम जो समानम अन्यत आया अन्यत माने क्या लेना है जो उपासना का फल बताया जो कोई उपासना करता है तो जैसे फल पूर्व में वैसे फल इसमें भी है इत्यादि है आगे मंत्र है अथ इनम आहवनियो अनुशास प्राण आकाशो द्यौर्विद्युति यश विद्युति पुरुषो दृश्यते सोहमस्मी सएवहमस्मी अथ इनम आहवनियो अनुशास आकाशो द्यौर्विद्युति यश विद्युति पुरुषो दृश्यते सोहमस्मी सैव अहमस्मी अथ अन्नाहारी पतन के उपदेश के अनंतर तीसरे अग्नि आहवनी अग्नि जो नैवित्तिक कार्य का हवन होता है उसको आहवनी कहते हैं निमित्त आने पर हवन किया जाता है प्रतिदिन का हवन वो है दारेपत्य अग्नि और ये नैवित्तिक हवन वाला अग्नि है आहवनीय अग्नि इसमें हवन होगा गारे अग्नि से अग्नि ला करके इसमें संविधा में आधान करके हवन होगा गारे अग्नि से लाना होता है तो अब वही तो चूल्हे की अग्नि लाते डाल देते हैं कुछ नहीं बाद में कुछ चला अग्निहोत्र समाप्त हो गया फिर क्या करते अरड़ी बंधन करके अग्नि निकालने लग गए कुछ नहीं नीचे ऊपर लकड़ी बीच में एक लकड़ी रखे मथानी जैसे रसी लगा के खींचते खींचते गर्म होकर के अग्नि प्रज्वलित होता था काष्ट में अरणी मंथन स्तर से कुछ लोग चश्मा से निकालने लग गए नंबर वाला चश्मा होता है सूर्य की किरण में ऐसा रखते हैं कागज रख दिया तो आग आ जाए ऐसे ऐसे क्योंकि तो अब तो वो भी नहीं कपूर में यहाँ जला माची जला दिए कपूर रख दिए ऐसे करने लग गया तो अथ एनम आह बने अनुशासक अथ इस उपकोशल को एनम मैंने उपकोशलम इसको कौशल को आहवर अग्नि ने उपदेश किया मेरे भी चार शरीर है भाई जैसे जारेपत्य अग्नि का है जैसे अनुहार पचने का चार शरीर है मेरा भी चार शरीर है क्या है प्राण आकाशो देव प्राण मेरा शरीर है आकाश मेरा शरीर है द्यूलोक स्वर्गलोक मेरा शरीर है विद्युत बिजली विद्युत चमकती हो मेरा शरीर है ये चार मेरे भी शरीर के चार भाग हैं ऐसा बताया और माने ये आहवनी अग्नि और विद्युत में जो पुरुष में दिखाई पड़ता है उसके विशेषता तादाद में दिखाते हैं या ये सब विद्युती पुरुषों दृश्य थे जो विद्युत में जो पुरुष दिखाई पड़ता है हाँ, सो अहम अस्मी वही मैं गारिपत्य अग्नि हूं अहम माने गारिपत्य और सैव अहम या ये सब अहम गारिपत्य अग्नि सैव अहम अस्मी जो मैं गारिपत्य अग्नि हूं वही मैं हूं जो विद्युत में पुरुष है अहा हाँ? बनी अग्नि अहा बनी अग्नि हाँ। मैं अहा बनी अग्नि हूं ऐसा कहा माने विद्युत मंडलस्थ पुरुष और अपने में अभेद कहा विशेषता बताई कहा भाष्य में आगे मंत्र एक सयेतम एवं विद्वानुपास्ते अपाते पाप कृत्याम लोकी भवती सर्व आयुरेति योग जीवती नाश्यावर पुरुषा उपवयम तम भुंजामो अस्मिश्लोके अमुस्मिश्च येतम एवं विद्वानुपास्ते सयतम एवं विद्वानुपास्ते अपहते पाप लोकी भवती सर्वम आयुरेति युग जीवती पुरुषा क्षीयते उपवयम तम कुंजामो अस्मिश्चलोक अमुष्मिश्च या एवं विद्वानुपास्ते स जो कोई भी हो एतम एवं विद्वानुपास्ते इस आहवन अग्नि के विषय में जो चार शरीर हैं प्राण है आकाश है देव है विद्युत है और विशेषता है कि आहवन अग्नि का और विद्युत मंडल है पुरुष का एकता वो जो वो पुरुष यह है यही वह है दोनों में अभेद जो विशेष है वो जानता है ऐसा जानने वाला अपहते ऐसा जान करके जो उपासना करता है एकदम विद्वान उपास जानता हुआ उपासना करता है अपहते पाप हम पाप कर्म का नाश करेगा वो उसके पास पाप कर्म नहीं रहेगा लोकी भक्ति लोक वाला होगा सर्वम आयु रहती सौ वर्ष तक जिएगा आयु पूरी आयु जिएगा योग जीवती उज्जवल जीवन होगा ख्याति प्राप्त जीवन होगा प्रशंसनीय जीवन होगा नाश्य वर पुरुषा क्षीयते इसके संतान का परंपरा संतान परंपरा नाश नहीं होगी उपवयम तम भुंजाम वयम तम उपभुंजाम हम उसकी रक्षा करेंगे ये आह्वान अग्नि बोल रहे हैं अस्पृष्ट लोग हैं इस शरीर में भी रक्षा करेंगे आगे जो शरीर होगा उसे भी रक्षा करेंगे पर लोग माने आगामी शरीर उसमें भी रक्षा करेंगे कहा या ये तम तो एक द्वार पास किसकी होने ये सारी फल जो इस प्रकार उपासना करता है ये बता दिया भाष्यों कहते अथ हैनम अहमनियो अनुशास अथ का अर्थ है कि अनुहारी पचन अग्नि के उपदेश के अनंतर अनंतर ही अर्थनाथ शब्द है एनम माने उपकोशलम आहवनीय अनुशास आहवनी अग्नि ने उपदेश किया मेरे भी चार शरीर हैं बताया प्राण आकाशो देवरुति मबापी एक चतस्त्र तनव मेरा भी चार शरीर तनु माने शरीर तनव तनु तनु तनव मेरे भी चार शरीर हैं ऐसा बताया और विशेषता ये बताई आवन अग्नि और विद्युत मंडल पुरुष में यही से विद्युत दृश्य थे सोमश इत्यादि पूर्वत सामान्य पहले जैसे ही समझना गारिपत्य अग्नि जिस प्रकार बताया आदित्य के साथ में बताया था वहां और चंद्रमा के साथ में अनुहार्य वचन में बताया था एकता ऐसे यहां भी समझना विद्युत मंडल पुरुष के साथ एकता ऐसे समझना ऐसे विद्युत पुरुष दृश्यते सोहमस्म इत्यादि इत्यादि भाष्य मंत्र जितने भी हैं सब पूर्ववत सामान्य पहले जैसे अर्थ है सबका समान है दिवाकाश वस्तु आश्रयत्वाद विद्युत आहवन भोग्यत्व ने संबंध है हम्म। मान दिवलोक और आकाश जो होंगे आहवनीय और विद्युत ये दोनों का विद्युत मंडलस्थ पुरुष का भोग्य रूप से संबंध होगा ये दोनों में तो तादाद में संबंध है भोक्ता है दोनों आहवन या अग्नि और विद्युत मंडल पुरुष भोक्ता रूप में है और दिवलोक और आकाश ये दोनों का दोनों आश्रय होने से विद्युत आहवन और भोग्य संबंध का ये कैसे दिवलोक और आकाश इनका आश्रय है इसका आश्रय होने से भोग्य रूप से विद्युत बिजली चमकती कहां आकाश में चमकती दिखती है उनका आश्रय होने से इसलिए दिवलोक और आकाश आश्रय होने के कारण इन दोनों अग्नियों का आश्रय होने से विद्युत आहवनी और भोग्य पेड़ संबंध विद्युत और आहवनी अग्नि का भोग्य रूप से संबंध होगा इसका आश्रय नहीं कहा समान मन तो बाकी भाष्य समान है एक मंत्रादि का अर्थ समान है बोल दिया ठीक है कहते हैं सोहम अस्मृति इत्यादि अन्य समानम संबंध है पूर्वत समान क्या समान होगा तो कहना चाहते हैं अश्मी इत्यादि अन्य समान अश्मी आदि सबके सब मंत्र जैसा है पूर्व मंत्र जैसा है वैसे भी यहां है अच्छा गारपति दक्षिणाग्नेश उपासना अनंतरम अथ शब्दार्थ आनंतरीय में अथ शब्द है यहाँ गारपत्य अग्नि की उपासना हो गई और नहारी भजन की हो गई उसके पश्चात यहाँ भाष्य मंत्र में अथ शब्द इसके लिए है यह शब्द अनंतरीय अर्थ में माने अथ शब्द कभी अनंतर अर्थ में होता है कभी मंगल अर्थ में होता है या मंगल अर्थ में नहीं है ही अर्थ में अथ योगानुशासन आया वहां अथ शब्द मंगल अर्थ में है उसके पहले कुछ कहा नहीं शुरू शुरू में है अनंतरी अर्थ है नहीं वहां प्रारंभिक अर्थ है तो मंगल अर्थ में है और यहां पूर्व में चर्चा होगी तो अथ शब्द अनंतरी अर्थ में गारपत्य से दक्षिणाग्नेय से उपासना अनंतरियम अथ शब्दार्थ कहा अनंतरिम अथ शब्दार्थ कार्यपत्याग्नि और दक्षिण अग्नि की उपासना के अनंतरीय बताने के लिए अथ शब्द से कहा गया तथा अभांतरम भेदम दर्शति इनमें विशेषता क्या है चार मेरे शरीर है किंतु दो शरीर में विशेषता है जो अहावनी अग्नि और विद्युत मंडल से पुरुष में विशेषता क्या है तादात में है ये विशेषता है या ये इत्यादि भाषा कहा था ये ऐसे विद्युती पुरुषो दृश्य थे सोमस्म इत्यादि पूर्ववत सामान्य जैसे सादृश्य है समान है पहले दो में जैसे व्याख्या की वैसे व्याख्या करना ठीक है मेरा कहा इत्यादि अन्य समान में संबंध है सोमस्मी आदि जितने भी है बाकी के सब समान है पूर्ववत का अर्थ समान समझना सबका यथा पूर्वम ज्योतिष ज्योतिष्वा विशेषात ज्योतिष अविशेषात गारिपत्य आदित्य और अनुहारी पतन चंद्रमशोष साम्य उत्तम जैसे पूर्व में प्रकाशत्व तो समान होने से ज्योतिष समान होने के कारण ज्योतिष धर्म समान होने से गारिपत्य और आदित्य को और अनुहार्य पतन और चंद्रमा को साम्य बताया गया था दोनों शिल्प वस्तु है करके समान बताया था साम्य बताया था तथा उसी प्रकार यहां भी ज्योतिष है आवर्य अग्नि में और विद्युत में ज्योतिष है तथा तो ज्योतिष सामान्य यहां भी कोई प्रकाशत्व समान होने से ज्योतिष धर्म समान होने से आहवनीय विद्युत आहवनीय विद्युत और आहवनीय दोनों में तादात्म्यम यष्टव्यम इत्या तादात्म्य स्वीकार करना चाहिए ये कहा पूर्ववत बोल दिया जैसे पूर्व में ज्योतिष सामान्य होने से तादात्म्य कहा था दोनों में यहां भी ज्योतिष है यहाँ एक अग्नि है तो एक विद्युत है और पूर्व में एक अग्नि थी एक चंद्रमा आदित्य और एक अग्नि थी तो एक चंद्रमा जैसे ज्योतिष था वैसे यहां भी एक अग्नि है और एक विद्युत है ज्योतिष है प्रकाशित प्रकाशत्व धर्म है इसलिए तादात्म्य कथम तरी ताभ्याम दिवाकाश और संबंध ताभ्याम इन दोनों में आह्वान अग्नि और विद्युत त्रिपुरुष ये दो दो के साथ द्यूलोक और आकाश का संबंध कैसे होगा फिर चार शरीर है ना तो दो तो आ गए इधर दो का संबंध कैसे होगा दिवा मैंने दिवलोक के साथ और आकाश के साथ संबंध कैसा होगा ये शंका आगे तो कहा संबंध पूछने पर कहा दिवा इत्यादि संबंध दिवा आकाशस्तु आश्रयत्वात दिवलोक और आकाश का तो क्या होगा आश्रय होने से अन्न क्या होगा आहवने और भोग्यत्व ने स्वांग मानी विद्युत और आहवनीय का भोग्य रूप से संबंध होगा अन्न रूप से संबंध होगा ये उनका आश्रय है विद्युत और आह बनेगा आश्रय है दिवलोक और आकाश इसलिए भोग्य रूप से संबंध रहा ठीक है कहते हैं आहवनीय से फलत्वात दिवो विषयत्व कहते देखो आहवनीय का फल है दिवलोक यहां हवन करेंगे तो वो मिलेगा आहवनीय में हवन आहुति डालने पर दिवलोक मिलता है स्वर्वलोक मिलता है वो फल है आहवनीय से फलत्वात आहवनीय का फल होने से दिवा दिवलोक जो है ना आहवनीय अग्नि का फल है आहवनीय अग्नि में आहुति डालेंगे मरने के पश्चात यजमान को दिवलोक मिलता है आहवनीय से फलत्वाद विषय तो दिवलोक विषय है तत्र होमादि द्वारा निष्पन्न अपूर्वश्य जब यहां पर कैसे दिवलोक प्राप्त होगा आहवनी अग्नि क्या दिवलोक का फल कैसे बनेगा कहते तत्र बने आहवनीय अग्नि अग्नौ जो आहवनीय अग्नि में होमादि द्वारा जब आहुति डाला जाता है होमादि द्वारा निष्पन्न पूर्वश्य एक अपूर्व पैदा होता है आहुति डालने के बाद आहुति तो समाप्त हो जाएगी वो आहुति स्वर्ग नहीं जाती है उससे क्या होगा एक अदृष्ट पैदा होता है जिसको अपूर्व बोलते हैं मीमांसा लोग अपूर्व बोलते हैं धर्म अथवा धर्माधर्म को अदृष्ट शब्द से नैयायिक बोलते हैं या अपूर्व शब्द से नहीं मीमांसक लोग बोलते हैं जब आवने अग्नि में आहुति डालते हैं वो दिवलोक कैसे फल होता है फल इस, इस तरह फल होगा दिखाना चाहते हैं आवने से फलत्वा दिवो विषय तो कहा था लोग विषय है आहवनी अग्नि तो फल होने से कैसे तत्र मैंने आहवनी अग्नि उस आहवनी अग्नि आहवनी अग्नि में होमादि द्वारा जो होमादि का प्रक्षेप करेंगे आप उसके द्वारा निष्पन्न अपूर्व से एक अपूर्व पैदा होगा जो होम किया वो तो समाप्त हो गया यही किंतु उसे क्या होगा अपूर्व पैदा हो जाएगा अपूर्व पैदा होगा मीमांसा के हिसाब में नैयायिक आदि के साथ में अदृष्ट पैदा होगा मान धर्माधर्म पैदा होगा यही होगा कारण पैदा होगा पर अपूर्व से द्यूलोक फलत्व अभिमान उसका फल क्या होगा उस अपूर्व का फल द्यूलोक होगा सीधा सीधा हवन का फल द्यूलोक नहीं होता है हवन से एक अपूर्व पैदा होता है आहवन अग्नि में आहुति डाली आपने तो उससे परंपरा से फल बनेगा आहवन अग्नि का द्यूलोक आहवन अग्नि में आहुति डाली उस आहुति को समाप्त हो गई यही किंतु उससे एक अपूर्व पैदा हो गया उस अपूर्व के माध्यम से आगे फल होगा द्यूलोक मिलेगा द्विलोक फलत्व अभिवाद एक कहा है अपूर्व का फल द्विलोक विद्युतस्तु तुम और विद्युत जो है आकाश उसका आश्रय है विद्युत का आवने अग्नि का तो इस तरह से दिवलोक फल बन जाएगा और बिजली विद्युत का फल क्या होगा विद्युत का आकाश आश्रय है वही चमकती है बिजली विद्युत अस्तु आकाश आश्रय तो प्रसिद्ध में प्रसिद्ध है अतो विद्युत आहवनीय और भोग्यत्व नहीं दिवाकाश है संबंध है इसलिए विद्युत और आह का भोग्य रूप से ही अन्न रूप से ही संबंध है दिवलोक और आकाश के साथ ये कहना माने इस आहवनी अग्नि का दिवलोक के साथ संबंध है फल फल फलत्व रूप से और विद्युत का आकाश के साथ संबंध है साक्षात आश्रय ये कहा स एतम एवं इत्यादि अन्यत एक उत्तम जो अन्य शब्द से कहा अन्य समानम जो बोला था समानम अन्यत अन्यत कहा था स एतम इत्यादि विद्वान जो भी बोला था दूसरे मंत्र में कहा था फल के लिए कथन किया था पूर्व जैसा ये पूर्व में जैसे फल बताया लोकी होना है सर्वायु जो पूर्ण होना है इत्यादि जो भी कहा वैसे ये कहा समय हो गया है ओम आप्यायन्तु कमाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो भरतिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम्